और इनसे उस बस्ती के बारे में पूछो जो समंदर के किनारे आबाद थी जब वो सप्त सनीचर के मामले में ज्यादतियां करते थे जब उनके समंदर की मछलियां सनीचर के दिन तो उछल उछल कर सामने आती थीं और जब वो सनीचर का दिन न मना रहे होते तो वो नहीं आती थीं इस तरह उनकी मुसलसल नाफरमानियों की वजह से हम उन्हें आसमाते थे